चूहे चूहे जल्दी आओ देखो देखो आज मैं तुम्हारे लिए फिर क्या लेकर आई हूँ आहा अखरोट तुम्हें पता है मुझे अखरोट बहुत पसंद है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इस तरह गिलहरी हर रोज चूहे को अखरोट खाने को देती और चूहा गिलहरी को बेर हर दिन की तरह आज भी वो दोनों साथ साथ खेल रहे थे कि अचानक गिलहरी ने क्या देखा मोटा शरीर बड़े बड़े पंख जैसे कान सी नाक ये नाक है या पूंछ और अ, और ये दो नुकीले तलवार जैसे दांत गिलहरी डर के पेड़ पर चढ़ गई पर चूहा वहीं बैठा रहा उस बड़े से जानवर का लंबा चौड़ा डील डॉल देखकर उसे बहुत हैरानी हो रही थी चूहे ने पूछा तुम कौन हो मैं हाथी हूँ तुम कौन हो मैं चूहा हूँ अरे तुम कितने छोटे हो कुछ खाते नहीं हो क्या वाह खाता क्यों नहीं हूँ खाता तो हूँ अखरोट बेर मिठाई पर एक बात बताओ तुम इतने बड़े कैसे हो गए तुम क्या खाते हो अच्छा तो तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या खाता हूँ तो चलो मेरे साथ मैं तुम्हें बड़े बड़े केले खिलाऊंगा मीठा गन्ना चूसने को दूंगा और फिर तुम भी मेरी तरह लंबे चौड़े हो जाओगे ये सुनकर चूहा बड़ा खुश हुआ सच अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा नई नई चीजें खाने को मिलेंगी फिर मैं तुम्हारी तरह बड़ा हो जाऊंगा गिलहरी पेड़ पर बैठी ये सब सुन रही थी उसने चूहे को एक जामुन मारा ए ए आहा ए ये जामुन कहाँ से आया चूहे ने हैरानी से ऊपर देखा पत्तों के पीछे से गिलहरी झांक रही थी ऊपर आ क्या है जल्दी कहो तुम इतने छोटे से हो और हाथी इतना बड़ा तुम्हारी और उसकी क्या दोस्ती तुम उसके साथ मत जाओ मैं तो जरूर जाऊंगा बड़े बड़े केले खाऊंगा मीठे मीठे गन्ने चूसूंगा और फिर हाथी की तरह मोटा हो जाऊंगा पर तुम मोटे होकर करोगे क्या तुम तो अपने बिल में भी नहीं घुस पाओगे अगर मैं हाथी के बराबर बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे किसी का डर नहीं रहेगा न बिल्ली मुझे खा पाएगी और न चील मुझ पर झपट सकेगी ऐसा कहकर चूहा फुदक कर हाथी की पीठ पर बैठ गया और दोनों मस्ती में चल पड़े छुपाती उनके पीछे चल दी चलते चलते गन्ने का खेत मिला दोनों उस खेत में घुस गए हाथी ने ढेर सारे गन्ने तोड़े और एक बड़ा सा गन्ना चूहे को दे दिया गन्ना बहुत बड़ा था चूहे ने उसे कुतरना शुरू किया और वो उसे कुतरता ही रह गया जबकि हाथी सारे गन्ने खा गया चूहे को पीठ पर डालकर हाथी फिर आगे चल दिया थोड़ा और चलने पर केले का बाग मिला हाथी ने ढेर सारे केले तोड़े और चूहे से बोला जितनी मर्जी हो केले तोड़ो और खाओ चूहा एक भी केला ना तोड़ सका हाथी मजे लेकर सारे केले खा गया और फिर आगे चल दिया चलते चलते एक तालाब आया और हाथी पानी पीने के लिए उसमें घुस गया उसने पेट भर पानी पिया और सून में पानी भरकर पीठ पर बैठे चूहे के ऊपर जोर से फेंक दिया चूहा गिरते गिरते बचा उसने हाथी की पीठ कसकर पकड़ ली अरे हाथी भाई संभल के मैं डूब जाऊंगा मुझे लगा तुम्हें प्यास लगी होगी प्यास तो लगी थी पर इतना सारा पानी बिना चूहे की बात का जवाब दिए हाथी फिर आगे चल दिया चूहे को अब अच्छा नहीं लग रहा था अब वो घर जाना चाहता था भीग जाने के कारण उसे ठंड लग रही थी उसे भूख भी लगी थी चूहा बोला हाथी भाई अब मैं घर जाना चाहता हूँ मुझे नीचे उतार दो पर हाथी तो अपनी ही धुन में चलता जा रहा था उसने चूहे की कोई बात नहीं सुनी चूहे को अब रोना आ रहा था चलते चलते हाथी एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया वो पेड़ के हरे हरे पत्ते तोड़कर खाने लगा साथ ही वो पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा चूहा डर गया डर के मारे उसकी जान निकल गई अब उसे गिलहरी की याद आई गिलहरी घबराओ मत चूहे मैं यही हूँ चूहे ने देखा गिलहरी एक डाल पर बैठी हुई थी मैं अपनी पूंछ नीचे लटकाती हूँ तुम इसे पकड़ लो आ, आओ आओ अरे अरे पकड़ो आ, आ, आ, आ, ली आ, आ, आ, चूहे ने चक्कर गिलहरी की पूछ पकड़ ली गिलहरी भी झट से ऊपर की डाल पर चढ़ गई तुम तो बिल्कुल भीग गए हो चलो तुम्हें धूप में ले चलूं। गिलहरी चूहे को पीठ पर बैठाकर धूप में ले आई फिर उसने उसे एक अखरोट खाने को दिया धूप में जाकर चूहे की जान में जान आई क्यों भाई चूहे कल फिर जाओगे हाथी के साथ कान पकड़ता हूँ जो अब फिर हाथी के पास जाऊँ क्यों अब हाथी की तरह बड़े नहीं होना चाहते क्या करूँगा इतना बड़ा होकर इतना बड़ा हो गया तो अपने बिल में कैसे घुसूंगा अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और चूहा और गिलहरी साथ साथ रहने लगे इस घने जंगल में अभी एक ही जोड़ी मशहूर है वही है चूहा वही गिलहरी इन दोनों की धूम है लौट के चूहा घर को आया